राम राम जी दोस्तों आप सभी को टीम राखी और सोनो सोनोटैक वीडियो की ओर से हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई और जल्द ही न्यू ईयर पर हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग और सॉन्ग का नाम है पतला शरीर जी हाँ सब्सक्राइब नहीं करवाना नहीं करवाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे सॉन्ग को लाइक करें शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें तुम्हारा तो न्यूर पर पतला शरीर ओके कैच कर लो फिर <laughs>